पहला प्रश्न भगवान आप कहते हैं धर्म जीने की कला है यह कला क्या है पूर्णानंद मनुष्य सदियों से है एक भ्रांत धारणा के अंतर्गत जिया है वह भ्रांत धारणा थी कि धर्म जीवन का त्याग है जीवन से पलायन है जीवन से विरक्ति है मनुष्य ने अब तक धर्म को निषेध की भांति लिया नकार की भांति लिया जीवन को इनकार करना सन्यास बन गया था और जो जीवन को जितना इनकार करे उतना बड़ा संत था इसके दुष्परिणाम होने सुनिश्चित थे अपरिहार्य थे और दुष्परिणाम हुए इस धारणा के जितने दुष्परिणाम हुए उतने किसी और धारणा के नहीं हुए इस धारणा ने मनुष्य की आत्मा को यूं पकड़ लिया जैसे किसी के देह को कैंसर जकड़ ले इसका पहला परिणाम तो यह हुआ है कि सिर्फ गलत लोग धर्म की तरफ आकृष्ट हुए रुग्ण लोग विक्षिप्त लोग ऐसे लोग जो जीने में असमर्थ थे जिन्हें नाचना नहीं आता था उन्होंने जल्दी से मान लिया कि आंगन टेढ़ा है यह मानना तो अहंकार को कठिन पड़ता है कि मुझे नाचना नहीं आता यह मानना बड़ा सुगम बड़ा सरल अहंकार का पोषण करने वाला है कि मैं करूं भी तो क्या करूं नाचूं तो कैसे नाचूं आंगन जो टेढ़ा है आंगन के टेढ़े होने से नाचने का कुछ लेना देना नहीं नाचना आता हो तो आंगन टेढ़ा हो तो भी नाचा जा सकता है नाचना ना आता हो तो आंगन बिल्कुल चौकोर हो तो भी क्या करोगे मुल्ला नसरुद्दीन आंख के चिकित्सक के पास गया था पूछने लगा डॉक्टर साहेब चश्मा तो आप बनाए दे रहे हैं चश्मा लग जाने पर मैं पढ़ने तो लगूंगा ना डॉक्टर ने कहा निश्चित ही जरूर पढ़ने लगोगे थोड़ी देर मुल्ला चुप रहा फिर बोला आप आश्वस्त हैं आपको भरोसा है सोच समझ के कह रहे पढ़ने तो लगूंगा ना डॉक्टर ने कहा एक बार कह दिया कि जरूर चश्मा लग जाएगा तो पढ़ने लगोगे नसरुद्दीन ने कहा कि मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं कि पढ़ना मुझे आता नहीं पढ़ना ना आता हो तो चश्मा लग जाए तो भी ना पढ़ सकोगे चश्मे से पढ़ने का क्या लेना देना पढ़ना आता हो तो चश्मा लग जाए तो स्वभावतः ठीक से पढ़ सकोगे मगर पढ़ना आता हो तो बिना चश्मे के भी कुछ कुछ तो पढ़ा ही जा सकता है जो लोग धर्म में उत्सुक हुए इस नकारवादी धारणा के कारण मुझे आज्ञा दो तो मैं कहना चाहूं इस नास्तिक धारणा के कारण क्योंकि जीवन का निषेध नास्तिकता है जीवन अर्थात परमात्मा जीवन को तो किया इंकार और एक काल्पनिक परमात्मा को किया स्वीकार खूब बेईमानी हुई आदमी के साथ खूब खिलवाड़ हुआ आकाश में दूर बैठे किसी परमात्मा के प्रति तो आस्था और चारों तरफ छाए हुए जीवन के प्रति अनास्था ये कैसा शीर्षासन था लेकिन सदियों से धर्म शीर्षासन करता रहा अब सिर के बल खड़े होने में जिनको रस हो वे ही उत्सुक होंगे ऐसे धर्म में स्वभावतः गलत लोग उत्सुक हुए जो हारे हुए लोग थे जो जीवन में जीत नहीं सके जिन्हें जीवन में जीतने योग्य प्रतिभा भी न थी जो जीवन में जीतने योग्य श्रम करने को भी राजी न थे काहिल सुस्त आलसी वे सब धार्मिक हो गए जीवन ने जिन्हें सब तरह पछाड़ा था वे जीवन से भाग खड़े हुए जो जीवन की चुनौती का मुकाबला न कर सकते थे जिनकी इतनी बड़ी छाती न थी कमजोर थे कायर थे वे सब भगोड़े हो गए और धर्म ने उन्हें सुंदर आड़ दे दी प्यारा पर्दा दे दिया खूबसूरत ओट दे दी एक बड़ा मनमोहक मुखौटा दे दिया वे संत हो गए महात्मा हो गए थे वे केवल संतापग्रस्त भयभीत पराजित भगोड़े इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मगर उन्होंने अपने भगोड़ेपन को खूब दार्शनिक लिबास पहनाया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए कुरूप से कुरूप बातों को ऐसी प्यारी सैद्धांतिक सजावट दी कि लगा भी जो कहते हैं वही सत्य है और खूब शोरगुल मचाया सदियों तक शोरगुल मचाया इसका परिणाम यह हुआ कि स्वस्थ लोग धर्म से रुचि खो दिए स्वस्थ लोग सोचने लगे धर्म हमारे लिए नहीं प्रतिभाशाली लोग बुद्धिमान लोग धर्म से दूर हट गए गलत लोग जिस जगह इकट्ठे हो जाएं, वहां से ठीक लोग अपने आप हट जाते अर्थशास्त्र का एक नियम है कि गलत सिक्के सही सिक्कों को चलन के बाहर कर देते तुम्हारी जेब में अगर दो नोट हो एक असली नोट दस रुपए का है और एक नकली नोट दस रुपए का तो तुम पहले नकली नोट को चलाओगे स्वभावता क्योंकि इससे जितने जल्दी झंझट निकले छूटे उतना अच्छा असली तो कभी चल जाए नकली कभी चले ना चले पकड़ जाओ तो किसी भी बहाने नकली को निकाल देना चाहोगे नकली रुपया निकालना हो तो तुम मोल तोल भी नहीं करोगे दो चार पैसे कम या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है रुपया ही नकली जल्दी से भागोगे नोट देके जितने जल्दी होगा रफू चक्कर हो जाओगे और जिसके पास नकली पहुंचेगा जैसे ही पहचानेगा नकली है वो भी चलाने में लग जाएगा इस तरह नकली नोट चलने लगेंगे और असली नोट तिजोड़ियों में बंद हो जाएंगे ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है ये जीवन के और पहलुओं पर भी लागू होता है ये धर्म के संबंध में भी सत्य है जब नकली नोट चल पड़े धर्म के नाम पर तो असली नोट चलन के बाहर हो गए बुद्धुओं की तो भीड़ इकट्ठी हो गई स्वभावता उस भीड़ में बुद्धों ने खड़ा होना पसंद न किया बुद्ध अकेले हो गए वे भीड़ से मुक्त हो गए वे भीड़ के बाहर हो गए दूसरा दुष्परिणाम हुआ ये तो बड़ी हानि होगी छोटी हानि मत समझना क्योंकि तो इसका परिणाम ये हुआ कि सारी पृथ्वी धर्म की रौनक से भर सकती थी धर्म की महिमा से जीवन नए नए अनुभव के आयाम खोल सकता था धर्म की प्रतीति से जीवन रोज रोज ऊंचाइयों पर उड़ सकता था धर्म के अनुभव से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उड़ान आती आकाश मिलता सीमाएं टूटती ये तो न हुआ गलत लोग इकट्ठे हो गए सही लोगों ने पीठ फेर ली सही लोग हट गए बुद्ध ने अगर वेदों को इंकार किया तो इसलिए नहीं कि वेदों से कुछ दुश्मनी थी बल्कि इसलिए कि वेदों के पास गलत लोग इकट्ठे थे अगर महावीर ने हिंदू धर्म को इंकार किया तो कुछ गलती हिंदू धर्म की न थी गलती थी तथाकथित हिंदुओं की अगर जीसस ने यहूदियों के धर्म को इनकार किया यहूदियों के घर में पैदा होकर तो कारण ये नहीं था कि उस धर्म में कोई बुनियादी भूल थी कारण ये था उस धर्म के ठेकेदार गलत लोग थे और सही चीज भी गलत हाथों में गलत हो जाती इस नियम को भी समझ लेना गलत चीजें भी सही हाथों में सही हो जाती और सही चीजें भी गलत हाथों में गलत हो जाती सारा खेल हाथों का है जौहरी के हाथ में पत्थर भी हीरे जैसे चमकने लगते और मूढ़ों के हाथ में हीरे भी पड़ जाएं तो पत्थर ही हो जाएंगे मूल समझेगा ही क्या मूढ़ पहचानेगा क्या मूढ़ हीरे का करेगा भी क्या तुम गधों के ऊपर अगर शास्त्रों को भी लाद दोगे तो गधे पंडित न हो जाएंगे कितने गधों पर तो विश्वविद्यालयों की डिग्रियां लदी हुई लेकिन उससे भी कुछ ज्ञानी नहीं हो गए गलत आदमी के हाथ में सब चीजें गलत हो जाती सही आदमी के हाथ में सब चीजें सही हो जाती सही आदमी का अर्थ ही ये होता है उसके पास प्रतिभा है वो कांटों का भी उपयोग कर लेता फूलों की तो बात छोड़ो और गलत आदमी फूलों का भी दुरुपयोग कर लेता है कांटों का तो करेगा ही यूं समझो कि जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई तलवार दे दे अब खतरा ही होने वाला है या तो खुद को चोट पहुंचाएगा या किसी और को चोट पहुंचाएगा चोट पहुंचने ही वाली खून बहेगा ही और धर्म के नाम पर कितना खून बहा हिसाब लगाओगे तो अधर्म तुम्हें अधर्म नहीं मालूम पड़ेगा फिर धर्म तुम्हें अधर्म जैसा मालूम पड़ेगा क्योंकि अधर्म के नाम पर तो खून बहा नहीं जीसस अलग हो गए यहूदियों से अगर मैं आज हिंदुओं ईसाइयों जैनों बौद्धों यहूदियों पारसियों की जड़ संस्थाओं के विपरीत कुछ बोल रहा हूं तो उसका कारण ये नहीं है कि उन परंपराओं के मूल में कहीं सत्य नहीं मूल में तो सत्य है मगर जिनके हाथ में वे परंपराएं पड़ गई जिन मुंहों के हाथ में वे हीरे पड़ गए वे उनका उपयोग पत्थरों की तरह कर रहे हैं और एक ही उपाय है उन मूढ़ों से उन हीरों को छीन लेने का और वो ये है कि उनकी सारी दुकानदारी गलत इसकी उद्घोषणा की जाए ये कोने कोने तक या आदमी के हृदय हृदय तक खबर पहुंचा दी जाए तो एक तो दुष्परिणाम यह हुआ कि गलत लोग इकट्ठे हुए ठीक लोग हटने लगे दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि जो ठीक लोग हट गए उनका मन भी विषाक्त हो गया शारीरिक नीच से कहता था और ठीक कहता था वह आदमी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं था उसने कोई समाधि नहीं जानी थी लेकिन फिर भी सूझबूझ उसकी गहरी थी अंतर्दृष्टि उसकी पैनी थी उसकी प्रतिभा में धार थी उसे मौका मिला होता तो वो बुद्ध महावीर जरथुस्त्र लाउसु की हैसियत का आदमी होता लेकिन पश्चिम में मौके नहीं थे निश्चय ने कहा है कि धर्म लोगों के जीवन को पलायन से तो नहीं भर पाया कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ दो से सारे लोगों का जीवन पलायनवादी तो नहीं हुआ लेकिन लोगों के मन में जीवन के प्रति एक अपराध भाव जरूर भर गया जिन्होंने जीवन छोड़ दिया उनकी तो गिनती थोड़ी है मगर जो जीवन में बने रहे वो भी यूं बने रहे जैसे चोर हों जैसे अपराधी हो उत्फुल्लता चली गई आनंद चला गया उत्सव चला गया नृत्य खो गया जीवन के प्रति अहोभाव खो गया जो जीवन में बने रहे उनका मन भी तिक्त हो गया कड़वा हो गया उन्होंने गटक नहीं लिया जहर को मगर थूक भी ना सके न पी सके न थूक सके कंठ में अटका रह गया जो पी गए वो तो संत हो गए थोथे संत जो नहीं पी सके वो भी थूक ना सके इतनी हिम्मत वो भी ना जुटा पाए क्योंकि इतनी हिम्मत करने का अर्थ होता है भीड़ को नाराज करना फिर भीड़ सूढ़ी लगाएगी फिर भीड़ जहर पिलाएगी बेहतर है चुप्पी साथे रहो मुंह बंद ही रखो मगर मुंह बंद रखा तो जहर जो तुम पी गए हो गले के नीचे ना भी उतारो तुम्हारे मुंह में भी भरा रहे तो तुम्हारे मुंह का स्वाद तो खराब कर ही जाएगा तो सारे लोगों के जीवन में एक विषाद छा गया रहे जीवन में वे भागे वे सब जीवन के प्रति एक तरह की उदासी से भर गए जीवन मंगलदायी न रहा ये दो दुष्परिणाम हुए और अब समय आ गया है कि पृथ्वी इस महामारी से मुक्त हो इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म जीवन की कला है जीने की कला है धर्म जीवन का त्याग नहीं मैं जीवन को और परमात्मा को पर्यायवाची घोषित करता हूं परमात्मा शब्द छोड़ दो तो भी चलेगा जीवन पर्याप्त है जीवन शब्द काफी प्यारा है परमात्मा कुछ और नई ऊंचाइयां नहीं दे देता जीवन को ही निखार देना धर्म है और जीवन जन्म से नहीं मिलता जन्म से ही मिल जाता तो बात बड़ी आसान हो जाती तो फिर कोई कला ना सीखनी पड़ती तुम बाजार से एक वीणा खरीद लाए इससे ये मत सोच लेना कि तुम्हें वीणा बजाना आ गया यू वीणा बाजार से खरीद लाए हो इससे वीणा सीखने का अवसर तुम्हारे हाथ लगा अब तुम्हें अभ्यास करना होगा अब तुम्हें सतत साधना करनी होगी तब संगीत जन्मेगा ऐसा मत समझ लेना कि वीणा हाथ पड़ गई तो सब मिल गया अब क्या करना है अब तो बजाओ वीणा जगाओ दीपक राग बुझे दिए जल जाएंगे बुझे दिए तो नहीं जलेंगे जले दिए बुझ सकते तुम्हारा दीपक राग ऐसा ही होगा अगर एकदम से बिना बजानी शुरू कर दी तो मोहल्ले में जो सो गए हैं वो जग जाएंगे दिए नहीं जगेंगे मोहल्ले के कुत्ते भोंकने लगेंगे लोग फोन पुलिस को करने लगेंगे घर के बच्चे चिल्लाने लगेंगे पत्नी चिल्लाने लगेगी मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी जब भी गाने का अभ्यास करती तो वो अपने घर के बाहर टहलने लगता मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन ये मामला क्या है जब भी तेरी पत्नी संगीत का अभ्यास करती तू बाहर क्यों टहलता है उसने कहा इसलिए ताकि मोहल्ले वाले जान लें कि मैं उसको पीट नहीं रहा हूं नहीं तो लोग समझते हैं कि मैं उसकी पिटाई कर रहा हूं ये गाना है और उसने अपने कान बताए कान में उसने रुई के फोहे लगा लिए दबा दबा के कि मैं तो सुन सुन के मारा जा रहा हूं फिर जब कोई उपाय ना रहा तो वो भी एक वीणा खरीद लाया और जो उसने बजाना शुरू किया वीणा का तो पत्नी को भी थका दिया पड़ोसियों को भी थका दिया बस एक ही तार को टुनटुनाया जाए बस टुन टुन टुन आखिर लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन बहुत बजाने वाले देखे कम से कम तारों पर हाथ चलाते तू तो एक ही तार को छेड़ रहा है नसरुद्दीन ने कहा वो असली तार खोज रहे हैं कि उनका तार कहा मेरा तार मुझे मिल गया अब मैं क्यों खोजू जिसको मिल गया वो क्यों खोजे वो खोज रहे हैं अभी इसलिए तलाश कर रहे हैं मैंने तो तत्ण पा लिया मैंने तो जब खरीदा तभी मैंने देख लिया कि कौन सा तार इसमें जचता है जो जचा है उसको ही बजाऊंगा अब तो मैं हूं और ये तार है और इसके लाभ ही लाभ है एक तो बड़ा लाभ ये हुआ कि पत्नी ने एकदम संगीत छोड़ दिया मोहल्ले में और जो कोई हारमोनियम इत्यादि बजाते थे उन सब ने बंद कर दिया सारे मोहल्ले में संगीत समाप्त हो गया है मेरी संगीत एकमात्र बचा है सब मेरी जान खा रहे थे अब कम से कम इतना तो सुख मुझे है कि कोई मेरी जान नहीं खा रहा अब मैं भी काफी तड़फ चुका अब तुम तड़फो मैं तो यही टुन टुन टुन टुन करूंगा और वक्त विवक्त बजाऊंगा क्योंकि संगीत की साधना का कोई समय थोड़ी होता है अरे जब मौज आई जब स्वस्फुर उठी आधी रात उठ के वो टन टन टन टन शुरू कर दे वीणा खरीद लाए इससे कोई संगीत थोड़ी आ जाएगा संगीत सतत अभ्यास मानता है जन्म तो केवल वीणा के खरीदने जैसा है फिर जीवन तो संगीत जैसा है धर्म को मैं जीवन की कला कहता हूं इस अर्थों में पूर्णानंद जन्म एक अवसर है इस अवसर को तुम चाहो तो महासंगीत बन सकता है मगर चाहो तो तो तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व का प्रकाश उठे तुम्हारे भीतर भी दीपक राग जगे और चाहो तो शोरगुल मचेगा शोरगुल ही मच रहा है चारों तरफ शोरगुल है लोग शोरगुल को ही जीवन समझ रहे हैं जितना ज्यादा शोरगुल होता है उतना ही लोग समझते हैं कि जीवित है शांत बैठो तो लोग कहते हैं क्यों शांत बैठे हो क्या हो गया तुम शोरगुल मचाओ उपद्रव करो तो लोग मानते हैं कि तुम जीवित हो लोग नकलची लोग बिल्कुल नकलची अगर पास का आदमी कुछ शोरगुल मचा रहा है तुम भी मचाने लगोगे शोरगुल मैं छोटा था तब देश में आजादी का आंदोलन चलता था 1942 के दिनों मेरी उम्र रही होगी ये कोई आठ नौ साल दस साल जिस नेता से मैं नाराज हो जाता गांव के मुझे नारे लगाने का शौक था उससे कंठ का व्यायाम भी हो जाता था वो अब तक काम पड़ रहा है प्राणायाम भी हो जाता था और सुबह सुबह झंडा फेरी निकाल दी और जिन जिन से बदला लेना हो उन उनसे मैं बदला ले लेता था मेरे बदला लेने का एक ढंग था और तब से मैं समझा कि आदमी का मनोविज्ञान अद्भुत है मेरे गांव के दो तीन ही खास खास नेता थे वो भी समझ गए तो मुझे बुला के मिठाई खिलाते खिलौने देते कहते भैया कैसी नाराजगी और मेरा राज क्या था राज ये था कि ब्रिटिश राज मुर्दाबाद इसके नारे लगवा था पांच सात दफे ब्रिटिश राज मुर्दाबाद ब्रिटिश राज मुर्दाबाद और फिर साहेब दास तो जनता कहती मुर्दाबाद क्योंकि पांच सात दस सात दफे का जो अभ्यास हो जाता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद साहबदास तो साहबदास मुझे बुला के कहते कि तू जब भी कहता मेरा नाम गलत जगह लेता है जब जिंदाबाद जनता कह रही हो महात्मा गांधी जिंदाबाद जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद तब तो तू कभी साहबदास का नाम नहीं लेता ब्रिटिश राज मुर्दाबाद तब तू मेरा नाम घुसने देता है बीच में और सारी जनता मुर्दाबाद कह देती अब मैं ही वहां झंडा लिए खड़ा हूं मुझके मुर्दाबाद कहलवाया जा रहा मैं बचपन से अध्ययन करता रहा हर चीज का कि लोग कैसा व्यवहार करते लोगों को ना मुर्दाबाद से मतलब ना जिंदाबाद से कौन मुर्दाबाद कौन जिंदाबाद किसको लेना देना है जो धुन पकड़ गई लोग नकलची हैं तो मैं कहता भाई अगर ठीक जगह पर बुलवाना हो तो फिर उसका इंतजाम करना पड़ता फिर देवी देवता को चढ़ोतरी करनी पड़ती तो साहबदास कहते कि करेंगे भाई तू क्या चाहता मिठाई ले फल ले सारा बगीचा हमारा पड़ा है तू घुस जो तुझे करना हो कर मगर देख गलत जगह हमारा नाम नहीं लेना अगर गलत जगह नाम लेना हो तो श्रीनाथ भट्ट वो गांव के दूसरे नेता थे तो मैं गलत जगह श्रीनाथ भट्ट का नाम ले देता वो बुलाते हो भाई तो क्या मामला है मिठाई ले लो ये करो मैं कहता साहब दास ज्यादा दे रहे हैं अगर उससे ज्यादा की हिम्मत हो तो बोलो नहीं तो मुर्दाबाद चलेगा नेताओं नेताओं में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक नेताओं का धंधे ही प्रतिस्पर्धा है भीड़ जहां जा रही तुम उस तरफ चल पड़ते हो तुम कभी नहीं देखते कि क्या कर रहे हो सारे लोग धन कमाने में लग गए तुम लग गए सारे लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तुम भी चले सारे लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तुम भी चले तुम्हारा धर्म तुम्हारा जीवन तुम्हारा दर्शन सिवाय नकलचीपन के और क्या है और यूं कार्बन कापियों की तरह जियोगे तो तुम्हारे जीवन से संगीत उठेगा गोली होने वाला है और तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे यही करते रहेंगे और उनके बच्चे यही करते रहेंगे सदियां बीत जाती हैं बीमारियां इस तरह दौड़ती रहती दौड़ती रहती जितनी दौड़ती हैं उतनी मजबूत हो जाती जितनी पुनरुक्त होती है उतनी प्रचारित हो जाती लोग कहते हैं हमारे बाप दादे भी यही करते थे जैसे कि तुम्हारे बाप दादों ने किया इसलिए करने में कोई सत्य हो गया तुम्हारे बाप दादों से पूछते तो वो कहते हमारे बाप दादे ऐसा करते थे फिर फिक्र ही नहीं है कि कौन ने शुरू किया क्यों शुरू किया किस मूढ़ ने किसी बात को शुरू किया किस कारण शुरू किया मगर लोग चलते रहेंगे इन पांच हजार वर्षों के ज्ञात इतिहास में आदमी धर्म के नाम पर जहर के घूट पीता रहा है मगर चूंकि पांच हजार वर्ष पुरानी बात हो गई इसलिए इसकी महिमा हो गई साख हो गई पुराने होने से इतनी भीड़ ने इसको दोहराया है कि तुम्हारी ये हिम्मत ही नहीं जुटती कि पांच हजार पुरानी इस भीड़ से तुम पृथक हो जाओ तुम्हारे प्राण कपते और धार्मिक व्यक्ति वही है जो निज होने की घोषणा करे निजता की घोषणा धर्म की शुरुआत अपने जीवन को जीना है किसी और के जीवन को नहीं ये जीवन की कला का पहला सूत्र हुआ अपने जीवन को अपने ढंग से जिएंगे चाहे जो परिणाम हो दांव पर लगाएंगे अपने को फिर हारे भी तो मजा है जीते तो तो मजा है ही मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति अपनी निजता की घोषणा करे तो उसके जीवन में हार होती ही नहीं क्योंकि वहां फिर हार भी जीत है और भीड़ के साथ चल के अगर कोई जीते भी तो जीत नहीं होती वहां जीत बिहार है भीड़ जीतती तुम नहीं जीतते और भीड़ के साथ चले आत्मा को गंवा दिया और जिसने आत्मा गंवा दी उसने सब गंवा दिया फिर जीवन अगर निषेध हो तो बात सरल हो जाती प्रतिभा की जरूरत नहीं होती भाग गए छोड़ के बैठ गए गुफा में गुफा में गुफा में बैठ जाने में कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी चाहिए कोई अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन एडिंगटन कोई प्रतिभा चाहिए गुफाओं में बैठने के लिए बुद्धू होना पर्याप्त है सिवाय बुद्धुओं के और कौन गुफाओं में बैठेगा किस लिए बैठेगा ये परमात्मा ये चारों तरफ जो इतने फूलों में खिला है इतने चांद तारों में उठा है इतने जीवन में फैला हुआ है इतने रंग रूपों में इतने इंद्रधनुष इनको छोड़ के कोई मूड ही गुफाओं में बैठेगा वो हिमालय की गुफाओं में जो बैठे उनके प्रति मेरा कोई समादर नहीं और मैं उनको जानता हूं गुफा गुफा में भटका हूं देखा है उन लोगों को उनकी आंखों में मुझे कोई प्रतिभा की चमक नहीं दिखाई पड़ी तुम्हारे महात्माओं को खूब परख के कह रहा हूं खूब देख के कह रहा हूं कि वो जड़ है उनकी खूबी इतनी है कि वो तुमसे थोड़े ज्यादा जड़ है इससे तुमसे आगे है तुम्हारे नेता है वो बुद्धू है तुमसे थोड़े ज्यादा बुद्धू है ज्यादा है इसलिए स्वभाव था तुम्हें पीछे चलना पड़ता वो आगे चलते वो रूढ़ है परंपराग्रस्त है तुम तो में थोड़ी स्वतंत्रता भी है उनमें इतनी भी नहीं वो तो लकीर के फकीर हैं वो तो यंत्रवत जी रहे हैं वो तो यूं जी रहे हैं जैसे कि कोई मुर्दा जिए और जो आदमी जितना मुर्दगी से जी रहा है उसको हम उतना बड़ा संत कहते तुम जरा अपने संतों का हिसाब तो करना कि तुम फला आदमी को संत क्यों कहते हो क्योंकि वो इतने उपवास करता है उपवास तो मरने का लक्षण जीने का नहीं वो आदमी इसलिए संत है कि वो नंगा रहता है नंगा तो सारे पशु रहते मनुष्य की खूबी है ये कि उसने वस्त्र खोजी ये पशुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वस्त्र खोज सके तो नंगे होने में कोई कला नहीं है तुम्हारे संत की महिमा क्या है विशिष्टता क्या है क्योंकि कांटों की सेज पर सोया हुआ है ये तो बुद्धूपन का लक्षण है बुद्धिमानी तो सुंदर सेज बनाएगी प्रीतिकर्ष सुरुचिपूर्ण कांटों पर क्यों सोएगा कोई ये तो आत्महत्या है ये आत्महत्या की तरफ छोटे छोटे कदम है लेकिन इन कदमों का हम सम्मान करते हैं हम इसको कहते हैं तपश्चर्या किसी भी तरह की मूर्ता को हम तपश्चर्या कहने लगते हैं और जो भी अपने को सता रहा है उसको हम मान लेते हैं तपस्वी अपने को सताने वाला सिर्फ विध्वंसक है हिंसक है आत्महिंसा से भरा हुआ है ये सारे लोग दमन से भरे हुए लोग हैं और दमन क्रोध पैदा करता है हिंसा पैदा करता है हिंसा को निकालें कहा वो कहीं तो निकलेगी किसी जगह तो निकलेगी वो कोई रास्ता तो खोजेगी और तो किसी पर निकालेंगे तो फौरन संतत्व ढगमगा जाएगा अपने पर ही निकाल सकते हैं अपने से ज्यादा निहत्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं और अपनी रक्षा जब तुम ही नहीं करोगे तो कोई क्या करेगा कोई क्यों करेगा और लोग तो मजा लूटेंगे लोग तो देखेंगे कि चलो अच्छा है एक तमाशा होगा जैन मुनि अपने बाल उखाड़ते हैं और भीड़ इकट्ठी होकर देखती और ताली बजाती लोग तमाशा देख रहे हैं लोग कहते हैं आह कैसा त्याग बाल उखाड़ रहे हो निपट गंवारी कर रहे हो एक तरह का पागलपन है स्त्रियों में तो हमेशा से पाया जाता है ये पागलपन जब भी वो गुस्से में होती तो बाल खींचने लगती बाल लौचने लगती ये केस लौच कोई बड़ी बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है विक्षिप्ता का लक्षण लेकिन स्त्रियों को कोई नहीं कहता क्या कैसा त्याग कैसी तपश्चर्या लोग कहेंगे मूल हो स्त्रियों को जब क्रोध आएगा वो भोजन नहीं करेंगी खाना बंद कर देंगी स्त्रियां तो बहुत पुराने समय से गांधीवादी रही गांधी के बहुत पहले से सत्याग्रही रही बहुत पहले से गांधी तो स्त्रियों की जो आते थी उनको ही बड़े पैमाने पर दोहरा रहे थे लेकिन उन्हीं आतों के कारण महात्मा है और फिर ये सब जो रोग इकट्ठे हो जाएंगे इनका कहीं से निकास करना होगा मैंने सुना एक वैश्या ने एक सर्वोदयी नेता को निमंत्रण दिया तुम थोड़ा चौंकोगे कि वैश्या और सर्वोदयी नेता को क्यों निमंत्रण दे सर्वोदयी नेता तो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं जो जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं उन्हीं ने तो वैश्याएं पैदा की वैश्याएं हैं ही दुनिया में इसलिए और तब तक रहेंगी जब तक लोग अस्वाभाविक दमन की प्रक्रियाओं को आरोपित करते रहेंगे वैश्याओं में और सर्वोदयी नेताओं में और महात्माओं में एक आंतरिक गठबंधन सर्वोदयों का जो संगठन है उसका नाम है सर्व सेवा संघ मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वैश्याएं भी कोई अखिल भारतीय संगठन बनाए उसका नाम भी होगा सर्व सेवा संघ उससे अच्छा और क्या नाम होगा सबकी सेवा करना ही उनका लक्ष्य और तन प्राण से करती पूरी तरह करती सर्वोदयी महात्मा पूरे दो मुर्गे खा गया तुम कहोगे सर्वोदयी महात्मा और मुर्गे इससे तुम चौंकना मत लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी मुर्गे खाने के शौकीन थे अंडे खाने के शौकीन थे फिर भी लोकनायक थे फिर भी महात्मा गांधी के परम शिष्य थे और विनोबा भावे के परम शिष्य थे उनके वसीयतदार थे इधर अहिंसा की बातें भी चलती रहती भीतर हिंसा भी चलती रहती ये जो जयप्रकाश नारायण ने इतना बड़ा उपद्रव इस देश में किया जो कि बिल्कुल ही बेमानी था और जिस देश को सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं हुआ इस उपद्रव के पीछे कोई सैद्धांतिक बात नहीं थी छोटी सी बात थी बड़ी क्षुद्र बात थी और वो ये थी कि इंदिरा ने जयप्रकाश को ये पूछ लिया था कि आपका खर्चा कैसे चलता है बस ये बात उनको चोट कर गई ये घाव छू गया और ये चोट करने वाली बात थी क्योंकि जयप्रकाश का जीवन भर खर्चा चला है बिरला के खानदान से माहवारी बंधी हुई थी वेतन बंधा हुआ था अब ये दुनिया बड़ी मजेदार है यहाँ क्या क्या खूबियों की चीजें चलती जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है बिरला इस देश के सभी तथाकथित सर्वोदयों को तनख्वाह देते मासिक तनखा एक तारीख को उनको तनख्वाह पहुंच जाती और ये जो जयप्रकाश नारायण को पैसा मिलता था ये महात्मा गांधी की आज्ञा से मिल रहा था और ये जयप्रकाश कहना नहीं चाहते थे कि खर्च कहां से चलता है बिरला का कैसे नाम लें गरीब जनता के सेवक धनपतियों के दुश्मन और धनपतियों की ही नौकरी पर जी रहे हैं उनसे ही पैसा पा रहे ऊपर से अहिंसा की बातें भीतर हिंसा ऊपर से विनम्रता की बातें भीतर अहंकार सर्वोदयी महात्मा पूरे दो मुर्गे खा गया खाने के बाद उसे एक बूढ़ा मुर्गा आंगन में नजर आया उसे देखकर सर्वोदयी महात्मा बोला देखो यह मुर्गा किस शान से चल रहा है वेश्या ने जल के जवाब दिया शान क्यों ना हो इसके दो बेटे एक महात्मा की सेवा कर चुके जब जब जबरदस्ती कुछ आरोपण किया जाएगा तो पीछे के रास्ते से सारे उपद्रव बहेंगे मवाद बहेगी और जीवन में एक अप्रमाणिकता आ जाएगी जीवन में एक झूठ आ जाएगा जीवन दोहरा हो जाएगा एक दिखाने का और एक जीने का अगर तुम्हें जीवन की कला सीखनी हो तो उसका दूसरा सूत्र है प्रमाणिकता ऑथेंटिसिटी जैसे हो वैसे ही जीना दोहरे चेहरे लगाने की जरूरत नहीं डरो क्यों किससे डरना है किससे भयभीत होना है छिपना किससे है छिपाना किससे मेरा अपने सन्यासियों से यही कहना पाखंडी भर मत होना अब तक सारे तथाकथित महात्मा किसी न किसी तरह के पाखंड में रत रहे पाखंड का अर्थ होता है कहना कुछ करना कुछ मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम जो कहो वो वही होना चाहिए जो तुम करो कोई जरूरत नहीं अन्यथा कहने की क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह स्वाभाविक है इसलिए अन्यथा क्यों कहोगे मगर जब तुम्हें यह सिखाया गया कि ब्रह्मचर्य जीवन है और काम वासना तुम्हारे भीतर हिलोरें ले रही तब तुम क्या करोगे तुम मुश्किल में पड़ जाओगे पाखंड पैदा हुआ ही रखा है पाखंड से बचना असंभव है बचने का उपाय ही नहीं छोड़ा गया ब्रह्मचर्य ही जीवन है ये तो सिद्धांत हो गया मगर अपनी काम वासना का क्या करोगे वो लहरें मार रही है वो धक्के मार रही है संत महाराज ने पूछा है भगवान मेरे दिल विच प्रेम हिलोरन ले रिहा है उचक उचक बल मारदा है जिसे भी दो वो लेंदा ही नहीं मैं बड़ा मजबूर हो गया हूं हाँ। सदगुरु साहिब मैं इस प्रेम का की करा काम वासना तो पंजाबी है वो तो बल मारेगी सभी की काम वासना पंजाबी वो तो उठ उठ बैठेगी तुम ठीक कह रहे हो उछक उछक बल मारदा है संत महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं इसलिए तो उनको महाराज कहता हूं सत्य ही कहते हैं वो छिपाते करते नहीं ठीक बात कह रहे हैं कि मेरे दिल विच प्रेम हिलोरन ले रहा है अब अगर ब्रह्मचर्य ही जीवन है और दिल विच प्रेम हिलोरन ले रहा है और उचक उचक बल मार रहा है तो करोगे क्या तो ऊपर से एक मुखौटा ओढ़ लेना राम नाम की चदरिया और फिर भीतर से कोई रास्ता खोजना पड़ेगा और तब धोखा हो जाएगा तब तुम अपने साथ ही बेईमानी करोगे नहीं इस प्रेम को स्वीकार करो अंगीकार करो यह तुम्हारी जीवन ऊर्जा है और घबराओ मत संत तुम कहते हो जिसे भी दो वो लेना ही नहीं लोग डर गए हैं लोग डरे हुए हैं प्रेम के विपरीत उन्हें समझाया गया है कोई लेना ही नहीं चाहता न कोई लेना चाहता न कोई देना चाहता लेना भी पड़ता है देना भी पड़ता है लेकिन लेना भी कोई नहीं चाहता देना भी कोई नहीं चाहता बड़ी उलझन में आदमी को डाला गया है आदमी की फांसी लगा दी है जिए तो मुश्किल न जिए तो मुश्किल आदमी का जीना ऐसा अकारण संकट से भर दिया है फिजूल ही तुम कह रहे हो मैं बड़ा मजबूर हो गया हां मजबूर तो हो ही जाओगे मगर फिक्र मत करो अपने को अंगीकार करो अपने को स्वीकार करो तलाश जारी रखो कोई ना कोई मिलेगा लेगा और यहां नहीं मिलेगा तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं मिल सकता है और तुम्हारे ही भीतर थोड़ी उचक उचक बल मारदा है औरों के भीतर भी उचक उचक बल मारदा है मगर वो उसको बिठाए हुए हैं भीतर वो ऊंचक उबला गुबला रहा है वो ऊंचक ऊंचक उसको दबा देते आखिर उनकी भी समझ में आएगा यहां रहेंगे तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि यहां मेरा मूल सूत्र यही है कि जीवन में जो भी है सब शुभ है उस शुभ को और भी शुभ करना है उस शुभ्र को और भी शुभ्रतर करना है मगर जो भी है वह पाप नहीं है वह पुण्य की संभावना है पुण्य का बीज बीज को बोना है श्रम करना होगा अगर बीज को फलों तक ले जाना फूलों तक ले जाना है तो प्रतीक्षा भी करनी होगी जीवन का जीने की कला का दूसरा सूत्र है प्रमाणिकता एक ही तुम्हारा व्यक्तित्व होना चाहिए दौरा नहीं पहला सूत्र है निजता अपने ढंग से जियो अपने रंग से जियो अपनी मौत से जियो मैं उसको सन्यास कह रहा हूं और दूसरा सूत्र है प्रमाणिकता और तीसरा सूत्र है भूल कर भी कहीं इस ख्याल को मत टिकने देना कि तुम्हारे जीवन में कुछ है जो गलत है अगर कुछ गलत लग भी रहा हो तो जानना कि इसी के भीतर कहीं सही छिपा हुआ है ये गलत सही को अपने में छिपाए हुए जैसे बीज की सख्त खोल के भीतर कितने फूल छिपे करोड़ों फूल छिपे बीज की सख्त खोल पर ही मत अटक जाना फूल अभी दिखाई भी नहीं पड़ते बोगे जमीन में पौधा बड़ा होगा वृक्ष बनेगा हजारों पक्षी निवास करेंगे सैकड़ों लोग उसकी छाया में बैठ सकेंगे तब फूल से भरेगा आकाश वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बीज की इतनी क्षमता है कि सारी पृथ्वी को हरा कर दे क्योंकि एक बीज से फिर करोड़ों बीज होते फिर एक एक बीज से करोड़ों करोड़ हो जाते होते होते सारी पृथ्वी एक बीज के द्वारा पहली दफे इस पृथ्वी पर एक ही बीज आया होगा और उसी एक बीज का परिणाम है सारी पृथ्वी हरी तो तीसरा सूत्र ख्याल रखना जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है शुभ है उसका सम्मान करो सत्कार करो निंदा नहीं और तब चौथा और अंतिम सूत्र है कि जो तुम्हारे भीतर है अनगढ़ पत्थर की तरह उसे गढ़ना उसकी मूर्ति बनानी ध्यान से वह अद्भुत कार्य पूरा होता है ध्यान है अपने भीतर मूर्ति निर्माण की कला पत्थर में जो जो अनगढ़ हिस्से हैं उनको छांटना जैसे मूर्तिकार छेनी से छांटता है फिर धीरे धीरे एक अनगढ़ पत्थर जो रास्ते के किनारे पड़ा था इतना सुंदर मूर्ति बन जाती बुद्ध की कि महावीर की कि कृष्ण की कि क्राइस्ट की कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ध्यान छेनी ध्यान एकमात्र उपाय है अपने भीतर अनगढ़ को गढ़ने का बस ये चार सूत्र तुम्हारे ख्याल में आ जाएं कि तुम्हें जीवन की कला आ जाएगी और जिसने जीवन जाना उसने ईश्वर जाना पूर्णानंद जिसने जीवन जाना उसने आनंद जाना जिसने जीवन जाना उसने मोक्ष जाना क्योंकि जीवन शाश्वत है एक दफा जाना तो पता चलता है कि अरे मैं ना तो कभी जन्मा और मैं ना कभी मरूंगा मैं था जन्म के पहले मैं रहूंगा मृत्यु के बाद भी इस अमृत की अनुभूति धर्म का सार सूत्र है दूसरा प्रश्न भगवान आप रोज रोज पतियों के पक्ष में बोलकर और पत्नियों पर व्यंग चुटकुले बोलकर पतियों को और सिर पर चढ़ाए दे रहे हैं वैसे ही पति पत्नी को पैर की जूती समझता है कृपया कुछ बोलें मनीषा पति मन ही मन में भला समझता रहे कि पत्नी पैर की जूती इधर उधर बाजार में कहता भी फिरे घर आते ही चौकड़ी भूल जाता है पत्नी को देख के ही होश आवास खो देता यूं कहता फिरता है कि मैं पति हूं पति यानी स्वामी पति शब्द का अर्थ ही स्वामी होता लेकिन पत्नियां भली भांति जानती कि कौन मालिक है और कौन गुलाम हालांकि पत्नियां चिट्ठी वगैरह लिखती हैं पति को तो लिखते हैं हे स्वामी नीचे दस्तखत करती हैं आपके चरणों की दासी मगर ये सब औपचारिक बातें इनमें कुछ सच्चाई नहीं है पत्नी भली भांति जानती कौन चरणों का दास असल में पति इतनी मुश्किल में पड़ा रहता है कि इस तरह की बातें कह कह के अपने को सांत्वना दे लेता है कि पत्नी पैर की जूती है अरे ये नरक का द्वार है अरे ये कुछ भी नहीं पुरुष का ही मोक्ष होता है स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता लिखते रहो अपने शास्त्रों में करते रहो अपने मन में अपने को समझाने की ये कोश है मगर ये सब से ये बताती हैं कि असलियत कुछ और है पत्नी को कोई दिक्कत नहीं दस्तखत कर देती आपकी दासी क्योंकि जानती है कि दस्तखत करने से क्या होता है दस्तखत करने में बिल्कुल निश्चिंत भाव से कर देती क्योंकि भली भांति पता है कि दास कौन है इतनी आश्वस्त है अपनी मालकियत की कि तुम्हारी चिंता क्या लेनी अगर तुम्हें इसमें मजा आता है कि आपकी दासी लिख दिया कागज पर तो चलो लिखे देते मगर ये कागजी बातें हैं इनका असलियत से कुछ लेना देना नहीं हालत असलियत में बिल्कुल उल्टी अकबर के दरबार में यू हुआ बीरबल ने एक दिन कहा कि आपके दरबार में ये सब जोरू के गुलाम है सब अकबर ने कहा ये बात नहीं हो सकती सही मेरे दरबारी मेरे बहादुर योद्धा जो न मालूम कितने युद्ध जीत चुके ये सब जोरू के गुलाम तुम बात क्या करते हो उसने उसी वक्त अपने दरबारियों से कहा कि जो जो जोरू के गुलाम एक लाइन में खड़े हो जाएं और कोई झूठ बोलने की कोशिश ना करे अगर बात गलत पाई गई तो गर्दन उतार दी जाएगी सैनिकों से कहा नंगी तलवार खींच लो म्यान के बाहर तुम्हारी पत्नियों से पूछा जाएगा तुम्हारे पड़ोसियों से पूछा जाएगा तुम्हारे बच्चों से पूछा जाएगा अगर जरा भी प्रमाण मिल गया कि तुम जोरू के गुलाम हो और तुम झूठ बोले तो गर्दन उतर जाएगी कौन ऐसी झंझट मोल ले पड़ोसी तो फौरन पोल खोल देंगे नौकर चाकर फौरन पोल खोल देंगे बच्चों को क्या पता है वो तो सत्य सत्य बोल देंगे कि मम्मी को देख के डैडी एकदम पूछ दबा लेते कि घर में ऐसे आते हैं जैसे अब पिटे अब पिटे कि यू मम्मी चूहे से डरती मगर डैडी से नहीं डरती डैडी मम्मी से डरते चूहों से गई थी हालत डैडी की चूहे से भी डरती मम्मी चूहा देख के एकदम उचक खड़ी हो जाती कुर्सी के ऊपर चूहा चूहा और पति को देख के कभी उचक के खड़ी नहीं होती कुर्सी पे तो पति पति देखा किसी पत्नी को उचक के खड़े होते तो पता तो चल ही जाएगा बेहतर झंझट में पड़ना ठीक नहीं और फिर सारे दरबारी एक दूसरे का राज जानते हैं यही खोल देंगे पोल झिझकते अटकते मगर सब जाके खड़े हो गए सिर्फ एक आदमी जिसकी कभी आशा ही नहीं थी किसी को अकबर को भी आशा नहीं थी बीरबल भी चौंका वो तो बिल्कुल पक्का जोरू का गुलाम था दुनिया जानती थी इसमें कोई शख्स सुबह का सवाल ही नहीं था वो अलग ही खड़ा रहा अकबर ने पूछा कि चलो कोई बात नहीं कम से कम इतना ही बहुत है कम से कम एक आदमी तो है मेरे दरबार में जोरू का गुलाम नहीं उस आदमी ने कहा है आप गलत नतीजा ना ले जब मैं घर से चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा सुनो जी भीड़ भाड़ में खड़े मत होना सो मैं उस भीड़ में खड़ा नहीं हो सकता और कोई कारण नहीं अगर उसको पता चल गया मैं भीड़ भाड़ में खड़ा था तो रोटी पानी बंद फिर झंझट होगी तो अकबर ने कहा ऐसा करो बीरबल दरबार में तो तुम जो कहते हो ठीक मगर क्या ये बात राजधानी के संबंध में सच बीरबल ने कहा बिल्कुल सच पति हो और जोरू का गुलाम ना हो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे व्यक्ति पति बनते ही नहीं अगर जोरू के गुलाम नहीं बनना हो तो पति ही किस लिए बने अकबर ने कहा तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है पूरी राजधानी बीरबल ने कहा आप पहले नहीं मानते थे दरबारियों के संबंध में अब नहीं मानते राजधानी के संबंध तो बीरबल से कहा कि फिर ऐसा कर एक आदमी ले मेरे जो सबसे शानदार दो घोड़े अरबी घोड़े थे एक सफेद एक काला अकबर उनको बहुत प्रेम करता था ये दोनों तू ले जा और जो भी आदमी सिद्ध कर दे कि वो जोरू का गुलाम नहीं वो जो भी घोड़ा पसंद करे उसको भेंट कर देना बीरबल चला आदमी को लेकर दो घोड़ों को लेकर हर घर में गया कोई सिद्ध ना कर सका सिर्फ एक घर में ऐसा हुआ सुबह सुबह वहां पहुंचा सुबह सर्द धूप निकल रही थी सर्द सुबह और आदमी बैठा हुआ था मालिश कर रहा था अपने हाथ से उसकी मसल देखने लायक थे पहलवान था बड़ा मजबूत आदमी मालूम पड़ता था सात फीट ऊंचा बड़ा मस्त तड़ंग एक घूसा किसी को मार दे तो वो आदमी फिर उठ ना सके बीरबल ने कहा कि भाई एक बात पूछनी है नाराज तो ना होगे बीरबल भी थोड़ा डरा ये आदमी तो कुछ बड़ा खतरनाक सवाल पड़ता कुखार नाराज न हो तो पूछू और पूछना मुझे पड़ेगा क्योंकि सम्राट ने भेजा है पूछ क्या पूछना है क्या चाहता है मैं चाहता कुछ नहीं हूं ये जो दो घोड़े लाया हुआ हूं अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम्हारे घर में मालिक कौन है तुम तुम्हारी पत्नी वो आदमी खिलखिला के हंसा उसकी हंसी ऐसी थी कि घोड़े तक घबरा गए घोड़े टक टक के पीछे हट गए बीरबल तक की छाती दहल गई और उस आदमी ने बीरबल के पास लाके अपने हाथ की मसलें दिखाई का ये मसलें देखते हो और बीरबल से कहा मेरे हाथ में हाथ दे और हाथ में हाथ लेके जो उसने बीरबल का हाथ दबाया बीरबल बोला अरे मार डालेगा अरे भाई छोड़ उसने कहा मैं और जोरू का गुलाम जिंदा नहीं लौटेगा यहां से मेरा शरीर देखता है और वही रहे मेरी जोरू अंदर गेहूं बीन रही थी उसकी पत्नी बिल्कुल एक दुबली पतली औरत कि उसको ये आदमी दबाई दे मुट्ठी में तो वो मरी जाए उसकी हालत बिल्कुल उल्टी थी वो अपना गेहूं बीन रही थी उसने कहा वो मेरी पत्नी ये मुर्गी और मेरी मालिक इसकी गर्दन दबा के बताऊं खात्मा कर दू तेरा खात्मा कर दू ये जो आदमी घोड़ा लिए इसका खात्मा कर दू बोल के इसका खात्मा कर दू अरे बीरबल ने कहा खात्मा किसी का नहीं करना भैया हम मान गए कि तू मालिक जाहिर है इसमें कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं अकबर भी तुझे देख के मान जाएगा कि तू है मालिक घर का घर का क्या तू तो मतलब राजधानी का सरताज अब ये बोल कौन सा घोड़ा चाहिए तो उस आदमी ने बुला के कहा कि जुम्मन की माँ घोड़ा कौन सा लू सफेद के काला जुम्मन की माँ ने कहा अगर काला लिया तो वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा सफेद ले तो उसने कहा कि सफेद लेंगे तो बीरबल ने कहा बस अब रहने दे अब घोड़ा मोड़ा नहीं मिलता बात खत्म हो गई देख लिया कि, कि मालिक कौन ये मसल वगैरह अपने पास रख मुझको मार सकता है घोड़े को भी मार सकता है मगर जुम्मन की माँ क्या कह रही सुन मनीषा तू चिंता ना कर ये तो मैं बेचारे पतियों को थोड़ी सी हवा देता रहता यूं पिटे कुटे आते हैं सत्संग में थोड़ा तो उनको लाभ हो यूं बिल्कुल पिचके पिचकाए आते हैं ऐसे थोड़े पंप मार दिए थोड़े फुग्गे में उनकी हवा आ गई वो जरा घर की तरफ शान से चले कम से कम घर तक तो शान से जाएंगे कि सत्संग करके आ रहे हैं वाह क्या बात कही घर जाके तो मरम्मत हो ही जाने वाली इसलिए मैं निश्चिंतता से उनमें जितनी फूक सकता हूँ फूकता हूँ मगर कोई फिक्र मत कर इसलिए तो स्त्रियां मजे से सुनती रहती कोई फिक्र नहीं करती तू पहली है जिसने फिक्र की अविवाहित मालूम होती है विवाहित होती इस तरह की बात तू करती नहीं भूल के नहीं करती स्त्रियां यहां बैठ के हंसती रहती पुरुषों से भी ज्यादा हंसती हालांकि मैं मजाक उनका चाहे उड़ाऊ और पुरुषों का विचारों का क्या मजाक उड़ाऊ उनका मजाक तो ऐसा उड़ा हुआ है इसलिए सिर्फ दया भाव से उनका नहीं उड़ाता मजाक और कोई कारण नहीं ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो पुरुषों को कोई उनके अहंकार को बल देने का लाख कोशिश करके देख चुका हूं उनको कितनी खड़ा करो वो जैसी पत्नी को देखते एकदम पिचक जाता ये कोई एक आध अनुभव से नहीं कह रहा हूं कितनों को ही खड़ा करके देख लिया एकांत में तो बिल्कुल खड़े हो जाते दंड बैठक लगाने लगते जैसी पत्नी को देखते हैं बस पूछते हैं जुम्मन की माँ काला घोड़ा ले के सफेद बस खत्म तुम निश्चिंत कोई फिक्र ना कर एक सज्जन ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा नसरुद्दीन बताओ शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है पति या पत्नी दोनों नसरुद्दीन ने कहा फर्क सिर्फ इतना है कि पत्नी घर में सोती और पति दफ्तर में घर में तो बेचारा सोए भी तो कैसे सोए किसी तरह समय गुजार देता है थोड़ा बहुत जितना समय मिला सारी दुनिया में ये ख्याल है कि पुरुष शक्तिशाली वर्ग है और स्त्रियां कमजोर ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है ये पुरुषों ने फैला रखी आत्मरक्षा के लिए और पुरुष पुरुषों से बातें करते रहते हैं और स्त्रियां चुपचाप मुस्कुराती रहती कि ठीक है कर लो बातचीत गुड़गुड़ा लो हुक्का जरा दिल बहला लो एक बच्चा अपनी मां से एक दिन पूछने लगा मम्मी क्या आप सर्कस में काम करती थी मम्मी ने कहा नहीं तो बेटा क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो बच्चे ने कहा मम्मी पड़ोसी की आंटी कह रही थी कि आप पप्पा को उंगलियों पर नचाती मगर कौन स्त्री नहीं नचाती एक स्त्री का कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक उंगली एक्सीडेंट में कट गई उसने पचास हजार रूपये का दावा इंश्योरेंस कंपनी पे किया इंश्योरेंस कंपनी भी हैरान हुई मैनेजर ने बुलाकर पूछा कि देवी एक उंगली के कट जाने का पचास हजार रूपये उसने कहा ये कुछ भी नहीं क्योंकि ये वही उंगली जिस पर मैं अपने पति को नचाया करती थी ये कोई साधारण उंगली नहीं थी तुमने मेरी पति की कीमत क्या समझी जो मेरी पति की कीमत है वो इस उंगली की कीमत है अब कहा न चाहूंगी पति को मैनेजर भी मान गया उसका भी अपना अनुभव तो यही था कि नचाती तो उसकी भी पत्नी उंगलियों पे ही पति तो करीब करीब कठपुतलियों की तरह तुमने कठपुतलियों का नाच देखा पीछे छिपा रहता नचाने वाला है धागे उसके हाथ में रहते और कठपुतलियां नाचती उनसे जो करवाओ करती जहां भेजो वहां जाती मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था मजिस्ट्रेट ने पूछा नसरुद्दीन तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई तुमने पत्नी को झाड़ू मारी नसरुद्दीन ने कहा हजूर अवसर अवसर की बात है मजिस्ट्रेट ने पूछा मैं समझा नहीं तुम्हारा मंतव्य उसने कहा मंतव्य मेरा ये कि सुबह का वक्त था पत्नी के दोनों हाथ काम में उलझे हुए थे उसकी पीठ मेरी तरफ थी झाड़ू पास में पड़ी थी पीछे का दरवाजा खुला था सो मैंने मारा और भाग खड़ा हुआ मैंने सोचा कि यह अवसर अगर चूका फिर मिले न मिले इस अवसर की कब से तलाश कर रहा था आपको जो भी जुर्माना हो करना हो कर दो मजिस्ट्रेट ने का जुर्माना अरे जुर्माना बिल्कुल नहीं मगर तूने एक राज की बात बता दी मैं भी इसका अभ्यास करूंगा बात तो जस्ती है ऐसा अवसर अगर मिल जाए तो उपयोग कर ही लेना चाहिए मनीषा तू बिल्कुल चिंता मत कर ये पतियों को फुलाना कुछ खास मामला नहीं इनको जरूरत है थोड़ी सी थोड़े इनमें प्राण पड़े रहे इनकी आत्मा बिल्कुल ही ना निकल जाए इन्हीं में से मुझे सन्यासी खोजने पड़ते हैं ये जान के तू हैरान होगी कि स्त्रियां पहले सन्यासी हो जाती पति पीछे पति अगर कभी कभी पहले सन्यासी होना भी चाहता है तो पत्नी नहीं होने देती पति मेरे पास आकर कहते हैं मुझे तो होना है मगर जुम्मन की मां पत्नी राजी नहीं वो जीना हराम कर देगी आखिर रहना तो घर में उसके पास और आपने भी कैसा सन्यास चुना है अगर आप कहो कि घर छोड़ देना तो भी समझ में आता है तो आज भाग जाएं वो वही है अवसर की बात पीछे का दरवाजा खुला है भाग खड़े हुए वो पुराने ढप का सन्यासी था मेरे सन्यासी को भागना नहीं तो मेरे लोग आके कहते हैं आपने भी खूब सन्यास रचा है ऐसी झंझट में डाल दोगे पत्नी कहती लेना मत पत्नी ने कह दिया वहां तो जा रहे हो लेकिन गैर एक वस्त्र पहन के घर में मत आना और आप कहते हो घर छोड़ना नहीं घर छोड़ने की भी आज्ञा दे दो तो यहीं से भाग खड़ा हूं लौट के जाने की जरूरत नहीं वो आप आज्ञा देते नहीं वो आप भगोड़ापन कहते आप कहते हैं घर जाओ और वहां पत्नी बैठी वो कहती गैरिक वस्त्र पहन के घर में आना मत मगर पत्नियां फिक्र नहीं करती पत्नियां एक पत्नी नहीं आके कहती मुझसे कि मुझे संन्यास लेना है तो पति बाधा डाल रहा है वो कहती पति से मैं निपट लूंगी आप फिक्र ना करें मैं खुद ही पूछता हूँ कि पति कुछ नाराज है वो पति मति की छोड़ो अरे उनको मैं जानती हूं उनसे मैं निपट लूंगी कौन मुझे रोक सकता है पत्नी को सन्यास लेना हो तो ना वो खुद ले ले लेती है बल्कि धीरे धीरे पति को भी लेना पड़ता है लेना ही पड़ेगा काफी हाउस में कुछ बुद्धिजीवी आत्मनिर्भरता पर बहस कर रहे थे एक ने गर्व से उदाहरण देते हुए कहा अब मुझे ही देख लो कि मैं कितना आत्मनिर्भर हूं सुबह पांच बजे उठता हूं नित्य कर्म से निपटकर चाय नाश्ता बनाता हूं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता हूं ऑफिस जाने के पहले पत्नी को जगाता हूं उसे बेड टी लेने की आदत है फिर ठीक साढ़े सात बजे घर से निकल पड़ता हूँ पर लोग हैं कि मुझे जोरू का गुलाम कहते उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि आत्मनिर्भरता भी कोई चीज अच्छे अच्छे शब्द खोज लेता आदमी इसको आत्मनिर्भरता कहते मनीषा तो पूछती आप रोज रोज पतियों के पक्ष में बोलकर उनको जरूरत है विचारों को उनको बेचारे समझो उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं सिर्फ उनको थोड़ी सी बैसाखियां दे देता हूं कि लो भैया तुम्हारी टांगे तो टूट चुकी हाथ तो कट चुके ये बैसाखियां ले लो किसी तरह टेक टेक के चल सको तो अच्छा है थोड़ी बैसाखियां देता हूं बस और कुछ नहीं मगर मैं जानता हूं कि बैसाखियां भी ज्यादा देर तक काम नहीं आती पत्नियां छीन लेंगी इन्हीं बैसाखियों से इनकी कुटाई हो जाएगी कोई स्त्री दुखी नहीं होती मेरे इन मजाकों से सच तो ये मैं स्त्रियों को ज्यादा प्रसन्न देखता हूं जब मैं पतियों को फुलाने की कोशिश करता हूं तो वो जानती है अच्छा फुला लो कोई बात नहीं फुगे हैं जरा सी सुई चुभा देंगे फट हो जाएंगे स्त्रियों के पक्ष में मैं कोई मजाक नहीं करता मारों को और क्या मारना है पति तो बेचारे पिटे कुटे अब इनको और क्या मारना इनको थोड़ी सी मलहम पट्टी की जरूरत है स्त्रियों को कोई मलहम पट्टी की जरूरत नहीं सच तो यह है कि पतियों को पुनः आत्मवान होने की आवश्यकता है पत्नियां तो काफी आत्मवान बलवान उनका बल और ढंग का है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता पतियों का बल ऊपरी वो मसल का है शरीर का है ऊंचाई का है कद का है हड्डी मांस मज्जा का है शारीरिक है स्त्री का बल थोड़ा हार्दिक है थोड़ा गहरा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता ऊपर से थोड़ा अदृश्य है मगर स्त्री सदा ज्यादा बलवान रही और सदा बलवान रहेगी ये जानना तुम्हें चाहिए कि स्त्रियां पुरुषों से पांच साल ज्यादा जिंदा रहती क्यों ये भी तुम्हें जानना चाहिए कि 115 लड़के पैदा होते हैं और 100 लड़कियां पैदा होती लेकिन शादी की उम्र आते आते संख्या बराबर हो जाती पंद्रह लड़के सफा हो जाते प्रकृति भी उतना हिसाब रख के चलती मार्जिन पंद्रह ज्यादा पैदा करती पैदा के वक्त संख्या सौ लड़कियों की और एक सौ पंद्रह लड़कों की क्योंकि प्रकृति को भी पता है ये कमजोर प्राणी इनमें से पंद्रह प्रतिशत तो फट हो ही जाने वाले चौदह साल की उम्र के पहले ही फट हो जाने वाले फिर बाद में फट होते रहेंगे वो तो अलग बात चौदह साल तक ही ना पहुंच पाएंगे ये तुमने देखा होगा कि लड़के ज्यादा बीमार पड़ते हैं लड़कियों की बजाय ये भी तुमने देखा होगा कि स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्दिन को कठिनाई को परेशानी को झेलने में ज्यादा समर्थ होती पुरुषों की बजाय पुरुष तो एकदम टूट जाते जरा सी बात तोड़ देती उनका बल ऊपरी ऊपरी है भीतर बिल्कुल निर्बल है पुरुष ज्यादा पागल होते ज्यादा आत्महत्या करते स्त्रियां आत्महत्या की बातचीत करती ज्यादा करती कराती नहीं और करती में तो हिसाब किताब से दो चार गोली खा लेंगी इतने हिसाब से कि सुबह एक घंटे जरा ज्यादा नींद आ जाएगी उतने में पति को काफी पसीना छुड़वा देंगे और पति के प्राण निकल जाएंगे कब मारे गए कहीं पुलिस ना आती हो अब डॉक्टर को बुलाओ और कुल मामला इतना है कि अगर एक साड़ी ले देता तो वो आत्महत्या करती नहीं कि उनने है भी नहीं अभी ये भी हो सकता है कि गोली खाने का सिर्फ बहाना किया हो और आंखें बंद किए हो पड़ी हो होश में हो बिल्कुल मगर पति हिला डुला रहा हो हाथ उठा रहा हो उनका हाथ गिर गिर जा रहा हो स्त्रियों का अपना तर्क है बचपन की दो सहेलियां काफी वर्षों बाद अचानक बाजार में मिल गईं। पहली बोली उफ तू तो कितनी बदल गई हरी मैं तो पहचान ही नहीं पाई एकदम से दूसरी बोली हारे तू भी तो कितनी बदल गई वो तो अच्छा हुआ कि मैं तेरी साड़ी और सैंडलें देख के एकदम से तुझे पहचान गई स्त्रियां जीती साड़ी और सैंडलों में नहीं तो जान हाजिर अभी जान दिए देते अभी कून के मर जाएंगे फांसी लगा लेंगे पति सोचता है साड़ी लाना बेहतर बजाय उपद्रव मचाने के मोहल्ले भर को इकट्ठा करने के बदनामी सहने के बच्चे क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे डॉक्टर क्या कहेगा पुलिस को खबर हो गई कहीं अखबार में छप गई खबर साड़ी लो सैंडल लो जो चाहिए लो पत्नी के मरने के कारण भी बड़े और होते हैं पति की समझ के बाहर होते मरती करती भी नहीं पत्नियां ज्यादा बलशाली मेरे हिसाब में वैज्ञानिकों के हिसाब में भी ज्यादा बलशाली और प्रकृति ने उन्हें बलशाली बनाया है क्योंकि उनसे काम लेना एक महत्वपूर्ण काम लेना है पुरुष से तो कुछ खास महत्वपूर्ण काम प्रकृति को लेना नहीं पति तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक जैसा है अगर तुम प्रकृति को देखो तो पति है ही नहीं वहां ये तो मनुष्यों के द्वारा ईजाद की गई संस्था है कृत्रिम और एक दिन विदा हो जाएगी ये संस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं इसके दिन लग गए ये खत्म होने के करीब ये सड़ भी चुकी है इसका समय पूरा हो चुका प्रकृति में तो पति पत्नी का कोई सवाल ही नहीं उठता मां होती पिता तो होते ही नहीं मां जरूरी है मां के बिना तो प्रकृति का क्रम रुक जाएगा सृष्टि रुक जाएगी मां के बिना तो बच्चे का क्या होगा नौ महीने कौन उसे पेट में रखेगा कोई पुरुष एक आध दफे तो नौ महीने बच्चे को पेट में रख के बता दे पेट में रखना तो दूर पेट के ऊपर ही रख के बता दे या तो बच्चे को मार डालेगा या खुद मर जाएगा दो में से कुछ ना कुछ कर लेगा एक रात बच्चे के साथ बिस्तर पर सो के तो बता दे रात भर बच्चा सताएगा कहीं कहेगा पेशाब लगी कहीं कहेगा भूख लगी कहीं कहेगा ये चाहिए कहीं कहेगा वो चाहिए रात भर उपद्रव मचा रखेगा बच्चे भी खूब हैं दिन में सोएंगे और रात सताएंगे और ज्यादा गड़बड़ करो तो ऐसा जोर से पुकारा फोड़ेंगे कि मोहल्ले भर में खबर हो जाए रोएंगे चीख पुकार मचाएंगे सोने तो नहीं देंगे वो तो स्त्रियां हैं कि सह लेती पुरुष की नींद अगर दस पांच दफे टूट जाए रात में तो वो सुबह बिल्कुल मुर्दा हो जाए स्त्री की कितनी दफे टूट जाए वो फिर सो जाती सुबह मुर्दा नहीं होती सुबह ताजी उठती बच्चे को संभाल भी लेती है उसका कपड़ा भी बदल देती रात में वो पेशाब भी कर लेगा वो पाखाना भी कर लेगा वो सब करती रहेगी फिर भी उसके धैर्य की क्षमता बहुत है उसको सहने की भी क्षमता बहुत है प्रकृति ने उसे बनाया है उस योग पुरुष की क्षमता नहीं है पुरुष का काम तो बहुत ही छोटा सा है एक इंजेक्शन का काम है ज्यादा से ज्यादा उनका तब कोई भी इंजेक्शन कर देता है पशु में तुम देखते ही हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम संतान उत्पत्ति डॉक्टर आके एक इंजेक्शन लगा देता है गौ माता को पर्याप्त कोई सांड पिता को बुलाने की जरूरत नहीं सांड चाहे रहता हो इंग्लैंड में अक्सर इंग्लैंड में रहते हैं इंग्लैंड के सांड जरा जोरदार है मगर उनके वीरीकरण आ जाते हैं इंजेक्शनों में भर के यहां इंजेक्शन दे दो और हिंदुओं को भी शर्म नहीं आती कि अंग्रेज सांडों से और हिंदू गौ माताओं का कैसा संयोग करवा रहे न संकोच है न लाज है अरे शर्म से मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो कुछ तो सोचो क्या कर रहे हो इससे ज्यादा और संस्कृति का क्या पतन होगा एक गांव में बाप को काम से जाना था तो अपनी बेटी से कह गया देहाती बेटी उससे कह गया कि डॉक्टर आने वाला है वो गौ माता को बच्चा पैदा करवाने के लिए सो तू गर्म पानी करके रख देना बाल्टी में और भी कुछ जरूरत हो डॉक्टर को तो इंतजाम कर देना और मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है सो तुझे फिक्र करनी पड़ेगी उसने कहा मैं फिक्र कर लूंगा उसने गर्म पानी बाल्टी करके रख दिया और गऊ कई थी किसान के पास सो उसने कहा देख ये जिस गऊ को बच्चा पैदा करवाना है उसके खूंटे पर मैंने खीला गाड़ दिया है ताकि तुझे याद रहे कि कौन सी गऊ नहीं तो तू भूल भाल जाए उसने कहा ठीक है उसने किला भी देख लिया फिर डॉक्टर आया तो उसने डॉक्टर को कहा कि आइए गर्म पानी की बाल्टी ले जाकर रखी और कहा कि यही गऊ है जिसकी खूंटे पे खीला गड़ा हुआ है डॉक्टर ने पूछा खीला किस लिए गड़ा हुआ है उसने कहा आप पेंट कहाँ टांगेंगे और क्या मैं भी यहाँ खड़े होकर देख सकती हूँ उसको बेचारी को क्या पता कि ये ये बेचारा इंजेक्शन लगाएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसने सोचा कि बाप खिला जो ठोंक गया है वो मतलब ये होगा कि पेंट कहाँ टांगेगा ये डॉक्टर वो कहना विस्मय उसके मन में होगा स्वभाव था कि जरा मैं भी तो देखूंगी ये आदमी है कैसा कि गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार करते शर्म नहीं आती डॉक्टर ने कहा भाग छोकरी तुझे कुछ अकल है क्या कह रही तू अपना काम कर जो आज पशुओं में हो रहा है वो कल पुरुषों में मनुष्यों में भी होगा होना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक है बजाय हर कोई मरा खुरा आदमी बच्चे कच्चे पैदा करे मरियल उससे बेहतर है कि सुंदर और श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के वीरियाणु उपलब्ध हो सके जो पशुओं के साथ है वो मनुष्यों के साथ हो सकता है इसलिए भविष्य में ध्यान रखो पिता की कोई जगह रह जाने वाली नहीं है पेंटमेंट टांगने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाने वाली खूंटी वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाने वाली खिली मिली ठोक नहीं मत पिता के दिन लग गए देर अबेर कितनी लग जाए मगर पिता के दिन लद गए पिता नहीं होगा भविष्य में भविष्य फिर मात्र सत्ताक होगा जब शुरू हुआ था मनुष्य की यात्रा का पहला पड़ाव तो समाज मात्र सत्ताक था फिर पितृ सत्ताक हुआ फिर पिता की सत्ता आई क्योंकि पिता में एक दम्भ पैदा हुआ कि मेरे बच्चे ही मेरी संपत्ति के मालिक होना चाहिए कालमार्क सच है इस संबंध में कि व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही पति और पत्नी की प्रथा शुरू हुई क्योंकि बाप को यह शक बना रहा कि अगर पत्नी मुक्त रहे तो पता नहीं किसके बच्चे और मैं संपत्ति जिंदगी भर कमाऊं और न मालूम किसके बच्चे उसके मालिक हो जाएं तो मेरी कमाई जिंदगी भर की बेकार गई यूं भी बेकार जाने वाली किसके बच्चे मालिक होते हैं क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे हुए कि किसी और के हुए क्या फर्क पड़ने वाला तुम तो गए सो गए कोई ना कोई तो मालिक होगा मगर आदमी का अहंकार कि मेरा ही बच्चा कम से कम मेरी ही एक शाखा मालिक रहेगी इसलिए पत्नी को बिल्कुल घेर के रखो इसलिए लड़की कुआरी होनी चाहिए विवाह के वक्त पुरुष का कोई बात नहीं हम कहते हैं पुरुष तो पुरुष है इनकी कोई बात नहीं लेकिन लड़की कुआरी होनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि लड़की पहले से ही गर्भवती हो और किसी का बीजांकुर लेके घर में आ जाए और बच्चा पैदा हो वो किसी और का हो और वो सारी संपत्ति का मालिक हो जाए नसरुद्दीन का जब पहली दफे विवाह हुआ तो छह महीने में ही बच्चा पैदा हो गया वो बड़ा चिंतित हुआ मोहल्ले के लोग हंसने लगे लोग कहने लगे बड़े मिया कुछ समझे नसरुद्दीन ने कहा कि क्या समझो इसमें डॉक्टर के पास गया डॉक्टर से कहा आप समझाएं लोग कहते कुछ समझे मेरी कुछ समझ में आता नहीं डॉक्टर ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो पहली बार अक्सर ऐसा होता है मगर दोबारा अब कभी ऐसा नहीं होगा पहली बार अभ्यास नहीं होता ना स्त्रियों को कभी छह महीने में बच्चा दे देती हैं कभी सात महीने में दे देती हैं डॉक्टर होशियार था बूढ़ा आदमी था अनुभवी था उसने कहा मैं अनुभव से कहता हूं पहली दफा ये अक्सर हो जाता है अभ्यास नहीं होने से कब देना पता क्या फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो हमेशा नौ महीने में देंगी बच्चा तुम घबराओ मत दोबारा कभी ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और जब दोबारा नौ महीने में बच्चा पैदा हुआ तो नसरुद्दीन ने घूम के मोहल्ले में कहा समझे समझे कुछ के नहीं उन्होंने क्या समझना है इसमें का नहीं समझना हो तो डॉक्टर समझ आओ अरे पहली दफा यूं हो ही जाता लड़की है जाने क्या कुआरी लड़की अनुभव नहीं आदमी ने कब्जा किया स्त्री पर मालिकियत जाहिर की उसके ऊपर सिर्फ इस कारण कि उसकी संपत्ति पर मालिकियत बनी रहे लेकिन अब तो संपत्ति भी समाज की हो जाएगी देर अबेर और पिता भी अवैज्ञानिक हो जाएगा लेकिन मां अवैज्ञानिक नहीं होगी फिर मात्र सत्ता जगत आने के करीब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने आश्रम में सारा महत्वपूर्ण काम स्त्रियों को क्यों दे रखा है यह आश्रम भविष्य का सूचक है जो कल होने वाला है वो यहां आज हो रहा है जान के ही मैंने ये किया हुआ है इस आश्रम को मैं प्रतीक बनाना चाहता हूं कि भविष्य में जो होगा उसका ये प्रतीक है और स्वभावता स्त्रियां जिस कुशलता से काम करती हैं पुरुष नहीं कर सकता पुरुष का काम थोड़ा अनगढ़ होता है उसमें वो स्पष्टता सौंदर्य प्रसाद नहीं होता इस आश्रम में तुम्हें जो सौंदर्य और प्रसाद दिखाई पड़ेगा वो स्त्रियों के कारण है इसलिए जो भी काम स्त्रियों से हो सकता है वो मैं पहले स्त्रियों को ही देता हूं स्त्रियों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है इसलिए मनीषा मैं अगर तुम्हारे कभी मजाक और व्यंग उड़ाता हूं तो चिंता न लेना उससे मेरे आदर में जरा भी कमी नहीं है मेरा जितना आदर स्त्रियों के प्रति है संभवतः किसी पुरुष का कभी पूरे इतिहास में नहीं रहा है आखिरी प्रश्न भगवान मैं भी मारवाड़ी क्या मेरे लिए कोई आशा है हरि कृष्ण मारवाड़ी से तो भगवान भी हारा तुम्हारे लिए आशा ही आशा है तुम चिंता ना करो तुम तो जहां जाओगे वहीं सफल होगे तुम तो जो करोगे वही सफल होगे सफलता का राज कोई सीखे तो तुमसे सीखे मारवाड़ी हारना जानते ही नहीं मारवाड़ी निराश होना जानता ही नहीं तुम क्यों चिंतित होते हो एक कैदी ने दूसरे मारवाड़ी कैदी से पूछा कि तुम यहां कैसे और क्यों आए मारवाड़ी ने कहा सरकार से मेरी जिद चल रही थी पहले ने पूछा क्या मतलब मारवाड़ी बोला मैं भी सरकार की तरह नोट बनाता था सरकार से जिद चल रही थी मारवाड़ी की जिद भगवान से भी चलती और भगवान को हारना पड़ता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो एक व्यक्ति जाली नोट छापता था एक मरतबा गलती से पंद्रह रुपए का नोट छप गए उसने सोचा शहर में तो कोई बेवकूफ बनेगा नहीं इसलिए गांव में जाकर एक रुपए का सामान एक मारवाड़ी से खरीदा और चौदह रुपए वापस मांगे मारवाड़ी ने साथ साथ के दो नोट वापस कर दिए उस व्यक्ति ने तो सोचा चलो न सही पंद्रह रुपए का कम से कम एक रुपए का तो फायदा हो ही गया मारवाड़ी ने भी एक रुपए का तो आखिर सामान दे ही दिया वह खुश था जब उसने घर जाकर सामान का पैकेट खोला तो सिर्फ एक चिट निकली जिसमें लिखा था हम भी यही काम करते हैं मारवाड़ी होकर हारने की बात कभी भूल के नहीं करना निराशा की बात मारवाड़ी को शोभा देती ही नहीं चंदूलाल मारवाड़ी अपने पुत्र के साथ किसी भोज में गया था जैसा कि उसकी पुरानी आदत थी उसने दिल खोलकर भोजन का आनंद लिया पूरी पर पूरी और रसगुल्ले पर रसगुल्ले रुके ही ना तभी उसने देखा कि उसका बेटा भोजन के बीच बीच में पानी भी पीता जा रहा है उसे तो बड़ा क्रोध आया उसने कहा कि इस मूड को मैं कहा ले आया अरे भोज में भी कोई पानी पीता है अरे पानी ही पीना है तो घर चल के पी ले यहां तो जितना खा सके खाता जाए कुछ कह तो सकता नहीं था मगर बीच बीच में लड़के को हुद्दे मारता था मगर लड़का है कि समझे ही ना वो बीच बीच में पानी पीता ही रहा लेकिन जैसे ही घर आए उसने जोर से एक शपथ बेटे को लगाई और कहा कि नालायक आखिर भोज में पानी पीने की जरूरत क्या थी अरे पानी भी कोई पीने की चीज और मैं तुझे इतने हुद्दे मारता रहा रकल के दुश्मन तू हुद्दे का मतलब भी नहीं समझा बेटे ने कहा आप नाहक मुझे मारते देखिए अभी आपको प्रयोग करके दिखाता हूं कि पानी पीने से आदमी और भी ज्यादा भोजन कर सकता है यह कहकर वो एक बर्तन राख भर के ले आया और उसने एक गिलास पानी उस राख में डाला पानी डालते ही राख नीचे चली गई और बर्तन में कुछ स्थान खाली हो गया यह देख चंदूलाल ने बेटे को एक चपत और रसीद की बेटा बोला कि अब क्यों मारते अब तो मैंने प्रयोग भी करके बता दिया चंदूलाल बोले कि अरे नालायक ये बात पहले क्यों नहीं बताई अरे पहले बता देते तो हम भी पानी पी के जगह बनाते और लड़का बोला इसलिए तो तुम्हारे हुद्दों की मैं फिक्र नहीं कर रहा क्योंकि जितने तुम हुद्दे दे रहे थे उतनी मेरे भीतर चीजें ठहरती जा रही थी नीचे बैठती जा रही थी नीचे तो मैं सोच रहा था वाह क्या हुद्दा मारा एक रसगुल्ला और भीतर गया तुम पूछते हो हरिकृष्ण कृष्ण क्या मेरे लिए कोई आशा है आशा तो है मारवाड़ी होना छोड़ना पड़े और मारवाड़ी होना कोई आत्मा का लक्षण थोड़ी मैं तो किसी शास्त्र में नहीं देखा कि मारवाड़ी होना किसी आत्मा का लक्षण हो न तो आत्मा मारवाड़ी होती न मद्रासी होती मारवाड़ी और मद्रासी चीनी और जापानी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सब मन के खेल और मन से ही उठने के लिए तो संन्यास है मन से ही पार जाने के लिए तो ध्यान है मन के पार गए कि फिर कहा मारवाड़ फिर कहा मद्रास मन के पार गए कि सब पीछे छूट गया मारो देश मारवाड़ सब बहुत पीछे छूट जाते वहां फिर तो शुद्ध चैतन्य साक्षी ही बचता है तुम चिंता ना लो अभी सन्यास तुमने लिया नहीं मगर मारवाड़ी हो हिसाब लगा रहे हो कि लेना कि नहीं लेना फायदा क्या होगा हानि क्या होगी आशा है कि आशा नहीं है हिसाब किताब रखोगे तो चूकोगे ये तो दुनिया हिसाब किताब रखने वालों की नहीं यहां तो हिसाब किताब खोने वालों का काम डरो मत छलांग लो आशा ही आशा है निराशा का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान है लेकिन कब तक झिझकोगे तीन चार बार तुम यहां आ चुके बार बार आके सोचते हो सन्यास लेना कि नहीं लेना आते हो चले जाते हो ऐसे आने जाने की अगर आदत बन गई तो फिर निराशा हाथ लगेगी क्योंकि तुम यहां आओ और दर्शक की भांति चले जाओ तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा यहां तो डुबकी मारो यहां तो उतरो इस सागर में और सागर में उतरने के लिए हिम्मत तो चाहिए और हिसाब किताब वाले लोग सागरों में नहीं उतरा करते सागरों में उतरने के लिए साहस चाहिए दुस्साहस चाहिए सन्यास इस जगत में सबसे बड़े साहस का कृत्य परमात्मा तुम्हें साहस दे तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है हरि कृष्ण इस नाम को सार्थक करो छलांग लो कहा की छोटी छोटी बातों में उलझे मारवाड़ी गैर मारवाड़ी यहाँ कोई कुछ नहीं है यहाँ कितने मारवाड़ी डूब गए तुम देखते नहीं एक बार डूबे तो डूबे फिर कौन मारवाड़ी बचता है यहां सब तरह के लोग हैं यहूदी यहां हैं मारवाड़ी तो क्या उनका मुकाबला करेंगे मारवाड़ी तो बेचारे समझो छोटे पैमाने पर भारतीय ढंग के यहूदी यहूदी तो जागतिक मारवाड़ी मगर यहां यहूदी डूबे हुए यूं डूबे हुए कि भूल ही भाल गए सारा हिसाब किताब सारा गुणनफल सारा तर्क जाल गणित का यह काम नहीं प्रेम का यह काम है और जहां प्रेम है वहां आशा है जहां प्रेम है वहां सूर्योदय है आज